Buddha. पंचानवे के बाद स्वारत सांच जीव कहूँ मन क्रम बचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भगी रघुवीरा राम विमुख लई विधि दे कवि को विदिन प्रशंसई दे

प्रथम मोह मुनि बहुत बिगोवा राम विमुख सुख कवम न नाना जन्म कर्म पुनि नाना ये जोग जप तप मख नाना पवन जो निजन में जानाई मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही देखूं करो सब कर्म गुसाई सुखी न भयऊ अब की नाई

प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कले पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मलमूल नरयरुणार्य धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम रखे इसी में उसका स्वार्थ है <clears throat> अब ये जीव के स्वार्थ की बात कहते हैं मैंने पहले तो शरीर भाव न होकर के व्यक्ति अपने आप को जीव समझे <clears throat> तो फिर जीव का फिर क्या धर्म है उसका किस बात में स्वार्थ है जैसे मनुष्य अपना स्वार्थ अपने शरीर के सुख के लिए देखता है इंद्रिय भोगों के लिए देखता है मान सम्मान का इसमें अपना स्वास्थ्य देखता है ऐसी अगर शरीर भाव न हो जीव भाव हो तब वो क्या सोचे तो इसके लिए कहते हैं कि जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो आध्यात्मिक विकास है <clears throat> जीव जब तक अभी आगे स्पष्ट कर देते हैं कि देखो जीव यद्यपि सुभाष कर्म पड़ा हुआ स्वर्ग नरक की यात्रा करता रहता है लेकिन इसमें जीव का हित नहीं है स्वार्थ सिद्ध नहीं होता उसे जीव कितने ही पुण्य कार्य करे स्वर्ग भी जाए तो स्वर्ग भी जाना प्राप्त करना जीव का सच्चा हित नहीं है इसमें वो जबकि जीव जब मुक्ति प्राप्त करे भगवान की भक्ति प्राप्त करे और ये जो जन्म मरण आदि के या कर्म के बंधन के या ज्ञान के जितने भी क्लेश हैं इन सबसे जब उसकी निवृत्ति हो तब का प्राप्त संजीवा हुई है तो साधना हम कहते हैं कि तुम अपने स्वास्थ्य को छोड़ दो ये साथ नहीं देते क्योंकि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि परमार्थ की बात जब कहते हैं कि दूसरे के प्रोग्राम लगे सहायता में लगे उपचार में लगे कैसा लगता है जब अपने प्यार से जुड़ जाओ और अपने आप को हानि पहुंचाओ और दूसरे को फायदा पहुंचाओ और फिर किसी की वाले काम करो ऐसा लगता है व्यक्ति को लेकिन ऐसा नहीं है व्यक्ति का प्यार के रूप है वो पास संवाद है मनुष्य का प्यार रूप है जो अपने आप को नहीं समझे चिंता नहीं करे कहीं कार्य करे इसीलिए प्यार को जीव का प्राप्त इसलिए है कि अपने आत्मभाव को प्राप्त करो परमात्मा को प्राप्त करो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा भाव में अपनी बुद्धि को चित्त को लगाए रखो इसी में उसका प्यार है अब एक स्वार्थ का होते हैं हम करके एक स्वार्थ कहते हैं किस करके जैसे शारीरिक से केंद्रीय भोग आदि है ये निम्न स्तर के स्वार्थ और जब तक व्यक्ति उच्च स्वार्थ के अपना नहीं पहचान पाता है तब तक निम्न खड़ा रहता है ये निम्न स्तर के स्वार्थ में ये निम्न स्तर के स्वार्थ में वो सबके स्वार्थ नहीं है भूखे स्वार्थ है कुल तो स्वार्थ है उच्च स्वार्थ बच्चे में वास्तव में ज्ञान में है भक्ति में है इसी में उसका स्वार्थ है और स्वार्थ में परमार्थ उसी के स्वार्थ को परमार्थ कहते हैं स्वार्थ को तो भी सबसे पहले परमार्थ तो व्यक्ति ग्रस्त हो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करे शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त करे तो वह उसका परमार्थ सिद्ध हो गया प्रार्थना परमार्थ है अगर सच्चा प्रार्थ तो परमार्थ है और दूसरे प्रार्थना दिन पड़ा दूसरे लोगों ने संसार प्रकरण खड़ा हुआ तो भले समझे कि हमारा प्रार्थ है लेकिन प्रार्थ नहीं हो गए ये भी इसका जो है भ्रम है अज्ञान है ये बात साथ बीच बीच में जगह जगह सभी ग्रंथ कहते रहते हैं वहां पर भी स्पष्ट कर दिया काल भूषण जी के द्वारा अपने जी ने कि देखो अपना जो है चार सभी परमार्थ है परमार्थ में सबसे ज्यादा अर्थ सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है हाइएस्ट वैल्यू क्या है परमार्थ में हाइएस्ट वैल्यू वही परमार्थ है और जो हाइएस्ट वैल्यू है व्यक्ति वही स्वार्थ व्यक्ति का सबसे अपना स्वार्थ में अपना परिवहन उसी है अपना लाभ उसी है ये स्वार्थ नहीं परमार्थ है परमार्थ स्वार्थ है ये बात करी का तो आप कहते हैं स्वार्थ सांस जीने पर एहा मन प्रभु बचन राम सब नेहा भगवान के मन केवल जरानी जरानी भक्ति नहीं है बानी बानी की भक्ति है तो मन को भक्ति है और फिर मन को भक्ति के किसी भी परमात्मा में लगा रहे अब तो कमी को भक्ति कहते हैं तो सारे जगत को परमात्मा में देख करके सबकी सेवा कार्य में लगा रहे सबका तभी तो भक्ति होगी सबके प्रति प्रेम भाव रखते समय एक बुद्धि से देखे किसी की निंदा में करे किसी के बैर भाव विरोध भाव में करे आलोचना में करे सबके प्रभाव को देख करके परमात्मा के समरूप हैं बड़े बड़े जैसे अपनी लगते हैं लेकिन है सब परमात्मा के लिए ऐसे समझ करके सबकी सेवा में लगा रहे हैं बच्चों का उनको सुबह करेगा लेकिन वही जो है उसका जो है वही वही पवित्र व्यक्ति है और उसका शरीर भी वही शरीर सुंदर है कि जो तन काय भगी रवि है जिस शरीर से पा करके भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए हम लोगों को सफल है शरीर के मौत प्राप्त होते रहते हैं लेकिन जो शरीरों को संसार के विषय में प्राप्त होते रहे वो सभी प्राप्त होते जब कोई गरीब रहता है जिससे कि भगवान का ज्ञान प्राप्त हो भगवान की भक्ति प्राप्त हो तो कहते हैं हाँ, जीवन ये कभी सबसे सुंदर नहीं है अचानक से दे अभी समर्थन कर है शरीर जो जी का शरीर क्या है अगर कभी भी शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो कभी शरीर सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को लई विभीषण देगी अगर भगवान का कोई विरोधी है भगवान की भक्ति प्राप्त हुई नहीं तो ब्रह्मांड जैसा कभी भी प्राप्त किसी व्यक्ति को हो जाए तो तब कोई भी कभी प्रशंसा ही कहीं तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति उनकी प्रसन्नता नहीं करेगा कि भाई को तो बड़े सुंदर शरीर होगा जैसे प्राय मनुष्य में कोई कोई व्यक्ति बड़े सुंदर भी होते हैं बड़े नजवचन बोलने वाले भी होते हैं लेकिन मन में कपट है भगवान की भक्ति है नहीं ज्ञान है नहीं अपने स्वास्थ्य में लगे हुए कभी कभी मध्य वचन बोलने वाले ऐसे होते हैं जैसे किसी दुकानदार के पास जाए और दुकानदार के कभी दूसरे दिन गए खरीदने वाले हो फिर कैसे सामान देते गए फिर कैसे बन देते हो तो आप ऐसे बोलेंगे दुकानदार नहीं भाई साहब ऐसा प्रबंधन तो नहीं करते तो वो ऐसे बड़े प्रेम पूरे बोलता भाई साहब बोलता है पिताजी बोलता है ऐसे करके बोलता बड़ा नजर बोलता है वो हाँ, ऐसे करके बोलता है जाए आपको लगे बात से दिन देती है लेकिन बहुत ठग रहा है जानबूझ के सरासर ठग रहा है नजर बोल रहा है हाँ, तो अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा व्यक्ति नहीं शास्त्री कहते हैं ऐसे सुंदर शरीर वाले नगर वचन बोलने वाले इनकी कोई प्रशंसा नहीं करता अगर ये कभी कोई भी इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति हैं तो इनकी क्या प्रशंसा है अब वही व्यक्ति जब भगवान का भक्त हो ज्ञान मान हो भक्त हो वास्तव में सबके हृदय से सबको परमात्मा स्वरूप मान रहा हो देख रहा हो और फिर वो अपनी जीवनदारी करे सबकी सेवा के लिए अपना कार्य करे तो प्रशंसनीय तो सब वो धर्म व्यक्ति है इसलिए कहते हैं कि मुख्य जीवन का उद्देश्य जो है ज्ञान है भक्ति है ये जो आध्यात्मिक गुण है व्यक्ति के जो संतृष्टि है परोपकार है क्षमा दया करुणा सहनशीलता शांति स्वभाव सत्यगुण की प्रधानता ये सब जितने भी गुण है व्यक्ति में जब ये विकसित हो तब व्यक्ति की क्षमता है महानता इसी में है इसलिए कहते हैं राम भगवती कर्मी बस इसी नियम के आधार पर कहते हमने देखा कि हमारे इस शरीर में को भगवान की भक्ति जमी जमी तो मन उत्पन्न जानने से ये दिखाते हैं कि जैसे देखो सत्संग करने से धीरे धीरे करके भक्ति उत्पन्न होती है जैसे खाद देने से पहले खाद हो पानी हो धूप लगे सुने की ये सब उपलब्ध हो तो फिर पौधे जमते हैं तो वो जमते हैं उनको आप पौधों को जमना कहते हैं बढ़ते चले जाते हैं बढ़ते चले जाते हैं ऐसे करके सत्संग करे शास्त्रों का अध्ययन करे चिंतन करे भगवान का नाम जब करे तो ये सब खाद पानी की तरह काम करते हैं और व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति के बीज बनता है बढ़ता है धीरे धीरे करके विकसित होता है तो जिन लोगों में भक्ति नहीं है उनमें भी भक्ति आ जाती है अगर इस प्रकार से धरती की भूमि उर्वरा शक्ति जाए और उसमें धरती का बीज बोया जाए और फिर उसमें जो सप्तम राज्य के उसमें खाद पानी दिया जाए तो जहाँ भक्ति जनते के चित्र में हृदय में नहीं है वहां भी भक्ति जम सकती है तो इसलिए ऐसा करके दिखाते हैं कि चूंकि हमारे इसी शरीर में तो वे के शरीर में भक्ति जमी प्राप्त हुई इसलिए कहते हैं पापे में परम प्रिय स्वामी स्वामी का जरूर को प्रकार की शामिल करके संबोधन क्योंकि ये तो राजा है पक्षियों को इसलिए उनको कहते हैं शामिल लेकिन गरुड़ ने कहा भूषण को गुरु मान लिया देखा था उनको कहा कि अब तक जो है वो कथा सुनते सुनते और ज्ञान का वर्णन करते करते गरुड़ ने कहा कि आप तो हमारे गुरु हम्म, आपने हमारे गुरु को दूर कर दिया ज्ञान का नाश कर दिया इस प्रकार से गरुड़ ने गरुड़ के हृदय का भूषण की गुरु सरकार देखेंगे जी के राजा हो गए बड़े तो वो उनको राजा की तरफ से सम्मान करते हैं और बड़े जो है कालभूषण को गुरु की तरफ से सम्मान करते हैं ऐसे करके जब दोनों श्रोता वक्ता दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं ऐसा कुछ का का करना है जगह जगह आता रहता श्रोता वक्ता क्षमशील समशील दोनों का शील एक एक दूसरे को दोनों की बनना पड़ा प्रशंसा करते हैं जो कहते हैं सजन में तने मुझे इच्छा मरना अब ये काफी सिंह जी कहते हैं तो कौए के शरीर प्राप्त हुआ और उसमें भी ये कि हम जो है ये इस शरीर को मैं छोड़ता नहीं तो छोड़ता नहीं तो काल नहीं आता लेकिन नहीं हम जब चाहें तो शरीर को छोड़ें और चूंकि हमारे ऊपर ही निर्भर करता है शरीर छोड़ें या रखें तो हमने भी ये सोचा कि शरीर न छोड़ तो ये अच्छा शरीर नहीं छोड़ मैंने काल के दस में पाप किसी का शरीर नहीं है काल आए काल खा जाए उनको मरना पड़े जैसे सारे संसार की गति है हो तो उनकी नहीं है कहते हैं कि शरीर क्यों नहीं छोड़ा दिए क्योंकि तन दिन देख दिन नहीं करना है कि बिना शरीर के भगवान की भक्ति साधना कैसे भगवान का ध्यान करना चाहो तो बिना शरीर शरीर में हो मन बुद्धि में हो तो कैसे ध्यान व्यवस्था में मान लो कि शरीर उनके संबंध नहीं रह जाता शिक्षकता और शांति थी अब उस समय आप जो है वो बहुत देर हम बैठ करके भगवान का भजन करेंगे कीर्तन करेंगे तो करो कैसे करो शिक्षकता और शांत करेंगे ऐसे करके अगर शरीर न हो तो फिर भगवान का भजन कैसे होना चाहिए भगवान के भजन के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए शरीर चाहिए प्राण चाहिए मन बुद्धि चाहिए इंद्रिया चाहिए तब ये भगवान की उपासना साधना हो तो कहा हमने भी देखा कि शरीर रेखा को शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति ज्ञान इत्यादि प्राप्त होता है तो फिर हमने शरीर को छोड़ा नहीं इसी को बनाए हुए की शरीर को अब ये अपना पुराना इतिहास बताते हैं ये सब ऐसे कैसे इनको शरीर ऐसा प्राप्त हो गया जब चाहे तो छोड़े जब चाहे न छोड़े ऐसी स्थिति क्यों हो गई तो पुराना इतिहास शुरू करते हैं प्रथम मोह प्रथम मोह में बहुत बुजुर्गा अब पिछले जन्मों में अपने मोह में बहुत बिगोया बहुत भटकाया भ्रम में डाला परेशान किया बिगोया मैंने परेशान करना भी है और भटकाना भी भटका करके परेशान करना तो कहते पहले मुझे मोह ने बहुत भटकाया और भटकाने के मन क्या है जैसे संसार में हर जहाँ देखे पाए हर व्यक्ति अपने मोह के कारण से भटक रहा है भटक रहा है कि मैंने कोई अपने जल संपत्ति की खोज में भटक रहा है इंद्री भोगों की खोज में भटक रहा है अपने स्वास्थ्य में भटक रहा है शारीरिक के स्तर पर भौतिक चक्कर में पड़ा हुआ समझता यही सब कुछ है और उसी की प्राप्त करने में दंड खंड पाखंड इत्यादि सब कुछ कर रहा है तो ये सब भटक नहीं हो सकती और उसके कारण पर नाना प्रकार के क्लेश होते हैं समस्याएं खड़ी होती है वारदात होती है गया प्रसाद होते हैं भाव होते हैं वो भी सब सहन करता है ये सब भटक नहीं है सबसे ऐसे ही हम भी अपने पूर्व जन्मों में यही हमारी भी बट रही हो के कारण ऐसी भटकते रहे और आत्मजनक सुख कभी न होगा उन जन्मों में कभी हमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं थी आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर आई नहीं किसी प्रकार हम संसारी भाव में खड़े हुए हम इंद्री भोगों में खड़े हुए भटकते रहे उसका परिणाम बहुत क्लेश हुआ बहुत दुख उठाने देखो कोई व्यक्ति को जब ये विकास इस प्रकार का आध्यात्मिक विकास होता है तब वो जानता है कि देखो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है भौतिक जीवन कैसे भटकाने वाला है आध्यात्मिक जीवन कैसे विश्राम देने वाला है सुख देने वाला लेकिन आध्यात्मिक जीवन कहीं कोई जल्दी दिखाई पड़ देता है कि जैसे देख ले जैसे भौतिक जीवन के तो लोगों को देखते ही देखो उसने इतना पैसा इकट्ठा किया देखो इतने बड़े मकान बनाए देखो इतने सुखे बनाए इतनी गाड़ी गई थी जो दिखाई देता है मोटा मोटा सबका सभी स्कूल रचना उसकी जो इकट्ठी हो जाती है सब लोगों को दिखाई देती है और आकर्षित करती है लोग बाग उसकी प्रशंसा भी करते हैं स्वयं भी वैसे ही बनना चाहते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन को जो सुख है वो तो दरिद्रता का सुख है त्याग का सुख है जब व्यक्ति अब दरिद्री एक व्यक्ति है दरिद्री तो में उसके पास कुछ भी नहीं वॉलेंटरी पावर्टी स्वीकार कर रखी है भगवान महात्मा कहते क्योंकि वैराग्य प्राप्त होने क्या वॉलंटरी पावर थे मैंने ज्ञान बूझ करके सब त्याग दिया और जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं गरीब पदप्री होते हैं कई जगह लगे और कभी क्यों रहने लगे कई इसका आनंद क्या पता बहुत बड़ा आनंद है तो दास ने बहुत गरीब दिए तो बड़े आनंद में होंगे तो वो आनंद में नहीं है क्योंकि वो संपन्नता चाहते हैं इसलिए उनको आनंद नहीं लेकिन जो संपन्नता को छोड़ करके भव्यता स्वीकार कर ली वो संपन्नता चाहते ही भौतिक विकास समृद्धि और उसका उसका सुख चाहते ही वो तब इसलिए उसने छोड़ दिया अब इसके अंदर जो वो हो आंतरिक विश्राम शांति तपस्थता उपेक्षा सब इनके घर में आ गई बार बार अपने चित्त में विश्राम शांति से प्राप्त होती है परमात्मा का ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए अवसर मिलता है तो फिर उसको एक आध्यात्मिक शुभ से प्राप्त यही कहते पहले बहुत हमको इस प्रकार हुआ नाना जन्म करें को नहीं माना पहले हमने बहुत से जन्म धारण किए और बहुत तरह तरह के सब कर्म किए क्या क्या कर्म किए किए योग जप तप न बताना तो सब किया दान भी किए यज्ञ भी किए जप भी किया योग साधना भी की तरह तरह की साधनाएं की ये सब कर्म के अंतर्गत ही आते हैं एक के कर्म के अंतर्गत भौतिक क्रियाएं धन संपत्ति अर्जित करने वाले कर्म और फिर दूसरे ये कर्म जैसे कि काम इत्यादि ये वैदिक कर्म कहलाते हैं एक लौकिक कर्म एक वैदिक कर्म लौकिक कर्म में तो व्यवसाय इत्यादि आ गए वो सब लौकिक कर्म हो गए तो वैदिक कर्म में का दान आप दिए गए वैदिक कर्म हो गए लेकिन सब कर्म ही यहाँ देखो भक्ति के शास्त्र में भी कर्म के द्वारा व्यक्ति की इच्छा है कि पूर्णता प्राप्त हो या उसके जीवन की सार्थकता हो वो नहीं करते जैसे ज्ञान में वेदांत में ये है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति भले ही सिद्ध कर ले लेकिन उससे परमार्थ की शास्त्र में भी कहते हैं कि कर्म के द्वारा व्यक्ति को चित्त शुद्ध भले ही कर ले लेकिन उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती पति की प्राप्ति नहीं होती तो इसलिए कहा कि सब हम कर्म करते रहे और भटकते भी रहे लेकिन उससे कुछ नहीं होता और फिर एक बात और भी है कि जैसे ये योग जब तक मतदान कोई करे लेकिन किस लिए करे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए बहुत धन प्राप्त हो जाए बड़ा परिवार हो जाए बहुत पुत्र हो जाए इन कामना से चाहे जब करे चाहे योग करे चाहे सब करे कुछ भी करे तो उससे कोई जो है व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा जो कामना करके करेगा वही वस्तु उसे प्राप्त होगी और वो प्राप्त भी होंगी छूटेंगी जाएंगी भी मरेंगे भी जी नष्ट भी होंगी तो उनके कारण से तो भी होता रहेगा परेशानियां भी होती रहेंगी प्राप्त भी होंगी जाएंगी भी आएंगे भी जाएंगी भी ये सब कुछ जीवन में बने रहेंगे इसलिए कहते हैं ये कि कवन जोन जन में जाना ही मैं सदेव ब्रह्म ब्रह्म जन्मा ही कहते कि इस प्रकार के कौन सा जन्म निमन नाना प्रकार के सभी सभी धारण किए मनुष्य हो चाहे गाय गणपति हो चंद्रवादी देवता हो नाना प्रकार के शरीर धारण किए और सब तरह के शरीर धारण कर करके देखे और सब जगह शरीरों में तरह तरह के कर्म भी किए और सब पापर भी हैं जो कुछ भी करना था सब प्रकार के कर्म करके देख लिए लेकिन केवल जो वो संसार में हम भटकते ही भटकते रहे और देखे ऊपर सब कर्म घुसाई हमने सब कर्म करके देख लिए और सुखी में भयू अवध बीमारी जब भक्त भगवान की भक्ति प्राप्त हुई तो उसमें जैसा सुख हुआ वैसा कभी सुख हुआ अब कोई कह कि तो ये कालभूषण की गपशराता वाली बात है तो ऐसे नहीं है ये तो कालभूषण का अनुभव है और कालभूषण का अनुभव नहीं है तो किसी बात का अनुभव तो है ही हाँ? है इसमें तो कोई संदेह नहीं तुलसीदास जी को तो जीवन को जानते हैं दो साल हो रही हुए चार पांच साल हुए उनके और वो किस प्रकार से उन्होंने वो भी जो ये बात का सिंह जी कहती है तुलसीदास जी अपनी तरफ अगर कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं कि नाना जन्म करो तुम तो माना ये जो भी जब तक न बताना कमल गुण जन्म में जाना ही मैं कभी सभी कर्म धर्म जब लाई देखी कर सब कर्म घुसाई सुखी नई नई की माई ये बात तो उसी बात भी कर तो उसी बात भी अब आगे चल करके जो कुछ किसी ने कहा है संक्षेप में दूसरी बात भी कर कभी भाई भगवान के समान ऐसा उदार कौन होगा जाति कृपा लगे सके मतिमंद तुलसी पास हो पाए परम दुष्काल राम समान प्रभु नाई बस तुलसीदास जी को आखिर में अपना अनुभव बताना वैसा कृष्ण जी के द्वारा बता दिया देखो हम्म? तो इस प्रकार से जो कभी भी जीवन में विश्राम शांति नहीं हुई अब जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसी भक्ति प्राप्त हुई तब शांति पर दूसरा सिद्ध सिद्ध माँ के जन्म में बहुत ही अपाधु सुनी गए तो हमें बहुत जन्मों का याद है शिव प्रसाद नदी मोहिनी गिरी तो ये संकट जी के पास उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें अपने पिछले जन्मों का को तो बुलाएगा नहीं तुम्हें याद बना रहे तो शंकर जी के वरदान के कारण से हमने पिछले जन्मों को सब याद करा हुआ है किसके जन्म हम चाहता है जहाँ पे क्या क्या हमने किया वो सब दिया है मोह देरी जब उसे बुलाने नहीं हमें भूल जाते मोह देर लेता है तो व्यक्ति भूल जाता है अब मोह घेरने से तात्पर्य समझो कि जैसे छोटे बच्चे को कभी कभी अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है तो वो याद तब तक बनी रहती है जब तक मोह नहीं घेरता मोह घेरने के माने अब जो शरीर प्राप्त हो गया शरीर में आसक्ति हो जाए और जो उसके माता पिता भाई बंधु जो आस पास हैं जो कोई वस्तुओं उनमें जहाँ उसकी आसक्ति बढ़ने लगी वहां कुछ भी उनको भूल और यही सब जीवन के लिए स्मृति का भी यही उद्देश्य सिद्धांत है कि जीवन में भी कोई व्यक्ति पुरानी बातें कब बोलता है जब वो वर्तमान काल की आगे की बातों में उसकी बुद्धि फंस जाती है उसी में अटकी रहती है तो पुरानी बातों में भूल जाती है अगर कोई बार पहली बात तो आगे सामने की बातों में अगर कोई पुष्टि नहीं हो सकती है हाँ, तो वो पुरानी बातें बार बार याद किया करता कोई कोई व्यक्ति तो रिटायरमेंट के बाद अपनी पुरानी बातें क्यों बोलते रहते हैं क्योंकि अब कहीं उनके माइंड को एंगेज करने के लिए कोई काम नहीं न साधना न अभ्यास न विचार न चिंतन न कोई काम न धान न नौकरी न चाकरी हाँ? अब उनकी बुद्धि कहाँ लगे कहीं उसके बुद्धि को पकड़ के लिए कोई स्थान है नहीं वापस कोई पुरानी बात याद होती नहीं हमारा काम प्रभाव सुना हुआ प्रभाव वहाँ गए फिर वहाँ से वहाँ पहला हुआ दूसरा लड़का वहाँ हुआ फिर वहाँ उसको हमने वहाँ पढ़ाया फिर उसको हमने फिर वहाँ बस यही सब उसको याद आते रहे सारी बुद्धि की तारीखें भैया बनी रहेंगी कितनी तारीख को वहाँ गए कितनी तारीख को हुआ कितनी तारीख जीव के जैसे सिद्धांत किस प्रकार के हैं ऐसे करके जैसे जीवन जैसे पूर्व जीवन के लिए जब व्यक्ति को जीवन में अनापत्ति अधिक हो जाती है तब पूर्व स्मृतियां जागृत हो जाती है योग सिद्धांत लिए कभी योग के बल से पिछले जन्म के स्मरण आ जाए योग के बल क्या माने क्या है जहां व्यक्ति शरीर में जीवन में आसपास की सब में अनासक्त हो गया अब कहीं बुद्धि उसकी लिप्त नहीं होती कुछ नहीं करते अब वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को पूर्व तरफ की पूर्ण जीवन की तरफ या अपने और पिछले जीवन की तरफ दौड़ा रहे तो उसको स्मरण करो स्मृति इस प्रकार की पूर्वा उसे प्रकार में तुम लोग में घेरी तो प्रथम जन्म की चरित्र कहूँ सुनो दिए कहते दिए सुनो अब तुमको हम अपने पूर्व जीवन की घटनाएं सुनाते हैं जीवन में कैसे कैसे भटके कैसे कैसे क्या किया वो तो सब कहानी सुनाते क्योंकि ये सब इतना विस्तार पूर्वक सुनाते उसका उद्देश्य बताते हैं ऐसा नहीं कि केवल एक इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए सुना रहे हैं इसलिए सुना रहे हैं कि उसको सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा भगवान में भक्ति प्राप्त होगी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी व्यक्ति को समझ आएगा जब सुन प्रभु की उपजयी इस कथा को सुनकर के भगवान के गर्भ में प्रेम होगा और जाके मुस्लिम कले और भगवान की भक्ति से क्लेश मिलते हैं अगर व्यक्ति चाहे कि हमारे क्लेश दुख मिटे तो भगवान की भक्ति प्राप्त करो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो भक्तों के चलते सुनो कि भक्त लोगों ने कैसे कैसे भक्ति प्राप्त की उनका सत्संग करे उनके जीवन के अनुभव सुनो उन्होंने क्या किया अपने जीवन में कैसे भक्ति प्राप्त की कैसे उन्हें प्रसारण प्राप्त होगा उनको सुनो तो कहते हैं पूरा विकल्प ये कि प्रभु जीव कलयुग मन तीन कल्प में एक कल्प कलयुग आया एक कल्प में कलयुग आया सतयुग एक व्यापार और कलयुग तो इनका सत्ता मिलाकर के एक कल्प हो गया तो ऐसे ये तो बहुत बाद का कल्प है जहाँ की कथा चल रही है सत्ताईस कल्प के बाद की कथा है मैंने कहा कि सुनकर कहने के सत्ताईस कल्प के पहले एक कल्प ऐसा आया जिस कल्प में कलयुग भी आ गया हर कल्प में कलयुग आता तो कलयुग आ गया तो कलयुग में क्या हुआ कि नर नार धर्म रत सकल वो कलयुग मल मूल था मैंने उसमें सब लोग पापल पाप दुराचार भ्रष्टाचार दुष्टाचार बनना बस वही तक कर सकेगा था तो बस ऐसे करके वो कलयुग आ गया और कलयुग के आप फैल गए सब जगह और सर्व सकल निगम प्रतिकूल मन सब देवी के विरुद्ध आसन करेंगे सब स्वेच्छाचारी होकर के विपरीत आसन करेंगे अगर वेद कहते हैं सदाचारी हो तो व्यक्ति क्या करो अगर वेद कहते हैं कि सत्य का नाश पकड़ो तो वह सत्य का नाश ये प्रतिकूलता अगर वेद कहते हैं कि किसी को कष्ट में पहुंचाए हिंसा में करो तो वो हिंसा ही करो ये प्रतिकूल दर्शन देख पुरुष प्रकार का आचरण कर सकता होने लगा और सबका आने लगा इनका कि नर और नारी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष सब उसी को सब धर्म के धर्म ये दिशा होगी तो दुष्ट कलयुग में हम पैदा अब देखो एक दोषी तो युग की बात तो इसी जो कलयुग की जो उसमें कलयुग की घटना उनकी है तब यहाँ पर कलयुग का पैगम भी आगे आएगा तब उनकी वर्णन करेंगे कलयुग जो था तो कैसा कैसा कलयुग में क्या क्या हो जाता है कैसे कैसे लोग हो जाते हैं कैसे कैसे उनके आचरण हो जाते हैं वो सब कलयुग की बात बताएंगे लेकिन अभी यहाँ पर ये हुए है बात बताते हैं कलयुग की तो बात आती है बाद में हम कहते हैं कलयुग में क्या किया ये कहा थे तो वो